प्रथम मंत्र समाप्त हुआ था द्वितीय मंत्र चलेगा पराच कामानुयंती बालास्ते मृत्युर्यंती विततस्य पाशम अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा ध्रुवम अध्रुवे स्वेह न प्रार्थयन्ते बाला पराच कामान अनुयंती बाल का तो अभिवेकी पराच कामान काम्यंते कामा परा कामा विषय है पराचकन से आत्म से भिन्न बहिर्गत विषय को ही अनुयंती उसके पीछे जाते उसकी इच्छा करते हैं विषय के पीछे मन जाता है ते मृत्युर विततस्य पासम यंती मृत्यु के वितत वितनु विस्तार से विस्तार पास विस्तृत पास है बंधन उसको ही जाते हैं यंति प्राप्त करते हैं मृत्यु के बंधनों को प्राप्त करते उसमें ही जन्म मरण को प्राप्त करते हैं बाह्य विषय का चिंतन करने पर यही मिलता है विषय चिंतन करके कुछ कर्म करेगा कुछ विहित कभी कर्म करता है कुछ निषेध भी कभी कर लेता है इच्छा प्रबल होने पर निषेध का भी उल्लंघन कर देता है जानता है नहीं करना चाहिए सुनता है फिर भी कर लेता है अत्यधिक काम क्रोध लोभ ये सब अत्यधिक होने पर निषेध का उल्लंघन हो जाता है तब उसे कर्म फल भोगने के लिए फिर जन्म मरण को प्राप्त करते हैं देह दान करते हैं तो वितत से मृत्यु मृत्यु का विशेषण वितत विस्तृत है यमराज मृत्यु के यम काम कर्म अविद्या आदि से जन्म मरण को प्राप्त करते ही बंधन है अथ धीरा अमृतत्व विदित्वा ध्रुवे ध्रुवम अध्रुवेषु न प्राप्यन्ते अध्रुवेषु ध्रुवम अमृतत्व विदित्वा ये सब अनित्य पदार्थ में नित्य पदार्थ को आत्म तत्व को जान करके अथा अध्रुवेश यह न थे फिर मिथ्या वस्तु किसी की इच्छा नहीं करते सारे पदार्थ सब मिथ्या है ध्रुव है आत्म तत्व उसको जान करके अनित्य पदार्थ की फिर किसी की इच्छा नहीं करते हैं यही समझ करके इच्छाओं का वासनाओं का त्याग करना पड़ता है मुमुक्ष को जितनी इच्छा है इच्छा ही बंधन का कारण है दुख का कारण है और आत्म तत्व से अतिरिक्त तो सब मिथ्या है मिथ्या समझते हुए भी उसके पीछे जाना उसकी इच्छा करना उसका चिंतन करना तो फिर जन्म मरण चक्र को प्राप्त करना मृत्यु के अधीन राज के अधीन होना पड़ता है स्वातंत्र तभी होता है यदि सब इच्छा का त्याग करके आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए तो किसी के अधीन नहीं है यह तावत स्वाभाविकम पराग एव अनात्म दर्शनम तद आत्म दर्शन से प्रतिबंध कारणम स्वाभाविकम अनात्म दर्शनम स्वाभाविक के स्वभाव से होता है उसके लिए कोई शास्त्र चिंतन श्रवण की आवश्यकता नहीं है शास्त्र श्रवण के बिना भी शास्त्र निरपेक्ष कुछ अन्य उपदेश के बिना भी बाह्य विषय की इच्छा है स्वाभाविक है पराग एव का अर्थ अनात्म दर्शनम अनात्म चिंतन वही अनात्म दर्शन अनात्म विषय की इच्छा करना ही आत्म दर्शन का प्रतिबंध कारण आत्मज्ञान का प्रतिबंध का कारण है अनात्म चिंतन सत्य वस्तु प्राप्ति की इच्छा है तो मिथ्या का त्याग करना पड़ेगा प्रकाश को जाना है तो अंधकार को छोड़ना पड़ेगा अंधकार में बैठे-बैठे रहे प्रकाश मिल जाए तो नहीं होगा कभी मिलेगा तो अंधकार नष्ट हो जाएगा जिसे अंधकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं प्रकाश मिलेगा तो अंधकार नष्ट हो जाएगा या तो प्रकाश इच्छा छोड़ दो अंधकार में बैठ रहो या तो प्रकाश में जाना है तो अंधकार छोड़ दो बैठे बैठे रहे जितने देर भी हो कभी प्रकाश आएगा तो अंधकार नष्ट हो जाएगा अंधकार को बना रखना ये कभी नहीं हो सकता है सत्य वस्तु की प्राप्ति करनी है तो मिथ्या वस्तु का त्याग कभी सत्य वस्तु प्राप्त तो हो जाए तो मिथ्या वस्तु का त्याग हो जाएगा उसको बना रखने के लिए प्रयास करें भी नहीं रख सकते हैं कभी भी प्राप्त होगा सत्य वस्तु की प्राप्ति होगी तो मिथ्या वस्तु का त्याग हो ही जाएगा प्रकाश होते अंधकार नष्ट होता है एक आत्म तत्व ब्रह्म स्वरूप चिद रूप सत्य है बाकी सब मिथ्या है सत्य को प्राप्त करना साक्षात्कार करना है तो मिथ्या को छोड़ना पड़ेगा एक साथ नहीं छोड़ता है तो धीरे-धीरे विचार करके मिथ्यात्व तो बुद्धि करके छोड़ना पड़ता है क्योंकि अनात्म दर्शन ही आत्मज्ञान का प्रतिबंध कारण है अनात्म मिथ्या मिथ्या का चिंतन दर्शन उसमें फिर प्राप्ति की इच्छा इसमें लग गए तो आत्म तत्व नित्य स्वरूप अपना स्वरूप होने पर भी उसका ज्ञान नहीं होता है तत्प्रतिकूलत्वाद अविद्या प्रतिबंध कारणम अविद्या वही अविद्या का कार्य है अनात्म दर्शन अविद्या है तत्प्रतिकूलत्वाद आत्मज्ञान का प्रतिकूल है अनात्म दर्शन अविद्या याच पराक्षेव अविद्या उपदर्शितसु दृष्टा दृष्टेषु भोगेषु तृष्णा ताभ्याम अविद्या तृष्णाभ्याम प्रतिबद्धत्व दर्शनाः पराचो बहिगतानेव कामान काम्यान विषयान अनुयन्ति अनुगच्छन्ति बाला अविद्या हो गया परा अनात्म दर्शन याच पराक्षेव अविद्या उपदर्शिते दर्शितेषु दृष्टा दृष्टिषु भोगेषु तृष्णा ताभ्याम एक अविद्या और एक तृष्णा पहले तो अनात्म दर्शन ही अविद्या है अविद्या अज्ञान के कारण अनात्म दर्शन होता है मिथ्या वस्तु का और वह प्रतिकूल है विद्या का विरोधी ज्ञान का प्रतिबंध कारण और पराक्षेव अविद उपदर्शितेषु भोगेषु तृष्णा अविद्या से ही भ्रांति से सिद्ध है वस्तु सारा प्रपंच प्रपंच है अनात्मा उसमें कुछ दृष्ट कुछ अदृष्ट है इस लोक में सुख मिलता है दृष्ट है भोजन क्या सुख भोग करते सुख मिलता है अदृष्ट स्वर्ग आदि सुख मिलेगा सत्कर्म पुण्य कर्म करेंगे स्वर्ग की इच्छा से वो भोग इसमें दृष्ट भोग अदृष्ट भोग स्वर्ग आदि भोग में तृष्णा यहाँ भी भोग करने की तृष्णा है स्वर्ग आदि सुख सुनने पर जो शास्त्र से सुनते समझते हैं विश्वास होता है तो इच्छा हो जाती है वो सुख हमको मिल जाए दिष्टा दिष्टा सु भोगेषु तृष्णा है वो दोनों हो गए एक अविद्या और एक तृष्णा अविद्या अनात्म दर्शन तृष्णा है और तृष्णा है इच्छा विषय में अनात्म दर्शन और इच्छा दोनों अविद्या तृष्णा अभ्याम प्रतिबद्ध आत्मदर्शन प्रतिबद्धम आत्मदर्शनम ये शाम आत्मदर्शन प्रतिबद्ध हो जाता है अनात्म दर्शन करना और मिथ्या वस्तु में इच्छा तृष्णा ऐसा आत्मदर्शन नहीं होता है प्रतिबद्ध हो जाता है पराचो कामान अनुयंति तब फिर बाह्य विषय की इच्छा करते हैं पराच का तो बहिर्गता नहीं व कामान आत्म से भिन्न जितने सब बहिर्गत इसकी इच्छा करते हैं कामान का था काम्यान काम्यंत यदि कामः नियत करें तो काम्य बनेगा घय करें तो काम हो जाएगा तो कामान का था काम्यान कर्मणि गए काम्य वस्तु की इच्छा करते हैं काम्य होता है विषय विषय अनुयंती अनुयंती एति इन धातु का गच्छन्ति अनुगच्छन्ति उसके पीछे भागते हैं उसकी इच्छा करते विषय प्राप्त हो उसका चिंतन करते हैं वही बाला है अल्प प्रज्ञा अब अल्प प्रज्ञा वाले अल्पा प्रज्ञा ऐसा विषय की इच्छा विषय के पीछे दौड़ने वाले जितने भी धन संपत्ति इकट्ठी कर ले नाम कमा ले तो उसको कहते श्रुति कहते हो बाल अविवेक अल्प बुद्धि वाले इसलिए उसको देख करके महत्व बुद्धि करके अच्छे अच्छे साधक को उसके पीछे नहीं चलना चाहिए बहुत साधक भूल जाते हैं उसके महत्व बुद्धि करके सोते हो तो बहुत बड़ा है उसके पीछे बड़े प्रसिद्ध हो गया बहुत धन संपत्ति है समाज में प्रतिष्ठा मिल गई तो बहुत हो गया बड़े उसको सम्मानेंगे मानेंगे कभी कुछ नहीं है किंतु वो भी प्रसिद्ध हो गया कथा करने पर सुंदर कथा करता है तो बस गुरु बन जाते संग संत बन जाते हैं गृहस्थी भी तो किंतु संत बन गए गुरु बन गए और अन्य लोग सोचते वही श्रेष्ठ है किंतु श्रुति कहते ऐसे बाल अविवेकी है हाँ प्रसिद्ध हो जाने मात्र से नहीं किंतु विषय की इच्छे जो भागते पछे आत्मस्वरूप साक्षात्कार नहीं कर पाते विषय पीछे भागते हैं काम्य वस्तु इच्छा करते वो अल्प प्रज्ञा वाले बाल अविवेकी है तेन कारण मृत्यु इसलिए अल्प बुद्धि वाले विषय के पीछे भागते अविद्या काम से तो अविद्या काम कर्म समुदाय से यंति मृत्यु यंति पास को मृत्यु तो ही है अविद्या काम कर्म समुदाय अविद्या अविद्या से काम काम से कर्म अविद्या अनात्म दर्शन फिर काम तृष्णा है अतृष्णा और प्राप्त करने के लिए कर्म विहित निषिद्ध कर्म सब करेगा प्राप्त करने के लिए ये समुदाय मृत्यु का पास बंधन है यंति गच्छन्ति उसको प्राप्त करते हैं वो पास सामान्य नहीं वितत से विस्तीर्ण से विस्तीर्ण कारण से सर्वत्र व्याप्त है यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक तो कहीं भी छोटा नहीं अविद्या काम कर्म बंधन से बंधेगा ये सब इसको ही प्राप्त करते पासे पास्यन्ते बध्यन्ते येन तम पासम जिसे बंधन को प्राप्त करते हुए पास पास का तो कोई बड़े रस्सी बड़ा है बंधा ऐसा नहीं है पाश्यन्ते बध्यन्ते येन तम पासं हो पास क्या है आदि संयोग वियोग लक्षणम यही बंधन है देहेन्द्रिय के साथ संयोग फिर शरीर समाप्त हो गया फिर दूसरा शरीर भी नहीं मानेगा देहेन्द्रिय के साथ जो संबंध है ये संबंध कोई सामान्य नहीं है वास्तव संबंध हो तो रस्सी से बंधा गया रस्सी को खोल देंगे घट भूतल में रखा गया संयोग घट को उठा दिया तो संयोग नष्ट हो गया यह जो आत्मा के साथ देह इंद्रिय आदि का संबंध है ये तादात्म्य संबंध आध्यात्मिक तादात्म्य एकत्व है ही नहीं किंतु आरोपित एकत्व है है इतने मजबूत है संबंध समझने के बाद भी छोड़ना मुश्किल है बड़ा कठिन है देहादि में अहम बुद्धि अहम कृशो हम अहम पश्यामि अहम सोचामि मन इंद्र बुद्धि प्राण इसको मिलाकर उसके साथ आत्मा का तादात्म्य आध्यासिक तादात्म्य यही ग्रंथि कहते बड़े अविद्या ग्रंथि अहंकार में चेतन का प्रतिबिंब हुआ चिदाभास बुद्धि आदि में वो चिदाभास के संबंध से जड़ अंतकण भी चेतन जैसा लगता है चेतन जड़ का संबंध वास्तव संबंध है ही नहीं दर्पण में मुख दिखता है मुख को लगाना पड़ता है दर्पण के साथ दर्पण को मुख में लगाना पड़ेगा नहीं लगाएंगे तो दिखेगा मुख लगता है दर्पण में मुख है है ही नहीं दिखता केवल इसी प्रकार बुद्धि आदि में चेतन का प्रतिबिंब दिखता है उसको चेतन समझ करके जो एकत्व है आरोप हो गया उसको पृथक कैसे करेंगे है ही नहीं एक है ही नहीं पृथक है दोनों मिला हुआ तो पृथक कर लेंगे मिला हुआ भूतल में घट रखा है तो घट घटा सकते भूतल से हैं हाँ, सोच कर बोलो भूतल में घड़ा रखा है तो घड़ा घटा सकते हैं क्या बोलो कहां से हटा सकते घट को कहां से हटा सकते हटा सकते हैं हां संयोग है तो हटा देंगे और प्रतिबिंब को बिंब से ये दर्पण से हटा दो बिंब सामने है दर्पण से प्रतिबिंब को हटा दो और जाएगा दर्पण है सामने बिंब है तो प्रतिबिंब दिखेगा कैसे हटाएंगे इसी प्रकार ये ग्रंथि है यही पास बंधन पास ही दे इंद्र आदि संयोग भी होगा इसे बंधा गया है इसको ही प्राप्त करते अर्थात जन्म मरण को प्राप्त करते जितने विषय की इच्छा करते हैं काम कर्म अविद्या अविद्या काम कर्म है मृत्यु का उसका मृत्यु उसका पास को जन्म मरण को फिर देहादि को ग्रहण करते जन्म मरण को प्राप्त करते ही वितत से पासम यन्ति अर्थात अनवरत जन्म मरण जरा रोग आदि अनेक अनर्थ व्रातम प्रतिपद्यन्ते इत्यर्थ देहेन्द्रियादि संयोग को कहते समय पतन समझ नहीं आता क्या हो जाता है देहेन्द्रियादि संयोग तो यही देहेन्द्रियादि है बहुत अच्छा है देह अच्छा है इंद्रिय भी अच्छा है ये सब वो करते हैं देह इंद्र प्राप्त होने से खाली देह से भोग होता है इंद्र से बात नहीं भोग तो होता है सुख का भोग क्या है सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार सुख भी भोग होता है दुख भी होता है दुख इतना अधिक है तो सुख के हिसाब से कुछ नहीं है किंतु थोड़े थोड़े बीच बीच में थोड़ा सा सुख मिलता है इधर तो मधुमक्खी का काटते हैं बड़े कष्ट होता है किंतु ऊपर से एक एक बिंदु का भी मधु गिर जाता है तो उसको चाटता है मीठा लग गया ना नहीं मीठा लग गया एक बिंदु गिर गया हाँ, फिर बहुत देर तक इधर मधु ही काट रहे हैं तो भी कोई बात नहीं एक बिंदु कभी गिरेगा जो रहता है इसी प्रकार क्षणिक कभी सुख मिलेगा उसके पीछे भागता है दुख भुगता रहता है जन्म मरण मरण के समय कैसे दुख होता है और उसके बाद कोई परिवार मर गया तो कितने रोते हैं जरा व्याधि आदि रोग जरा रोग आदि वृद्धावस्था में रोग वृद्धावस्था में ही समझे हैं आएगा पहले समझ नहीं आता है दौड़ते हैं उठते बैठते बैठ करके उठना इसमें भी कठिन है कठिन है खड़े हो तो बैठना मुश्किल है बैठना तो खड़ा होना कठिन है कोई कोई आते हैं तो बैठते नहीं खड़े रहते हैं और कोई के आगे पहुंचेंगे तो बात नहीं करेंगे 15 मिनट तक <laughs> ऐसा चलता है सीढ़ी चढ़ने के बाद साथ चलेगा अभी कुछ बात नहीं करेंगे अगर सुबह दस पंद्रह मिनट के बाद ही भी नहीं तो खड़े हो जाए साथ चलेगा तो और छोटेपने में पता नहीं चलता छोटे बच्चे पहले तो सीढ़ी चढ़ते समय दो तीन सीढ़ी एक बार किए छोटी-छोटी सीढ़ी क्या चना अच्छा एक पैर या एक पैर वहाँ रखा ऐसे कर उठ जाते हैं <laughs> नीलकंठ जाते हैं तो ऐसे घूम घूम कर रास्ता है ये घूमना क्या सीधा रास्ते चढ़ो <laughs> सीधा रास्ते में चले जाते हैं और बाद में तो घूम कर जाते समय भी परेशानी है सीधा का कहाँ प्रश्न है ऐसे घूम कर जाओ तो भी चलता है वृद्धावस्था में और रोग का अनुभव तो सबको है जितने स्वस्थ व्यक्ति है थोड़ा रोग हो गया तो बस गिरा लंबा गिर गया और उठना मुश्किल है बुखार हो जाए कोई रोग हो जाए तो बस एक दो तीन चार दिन में गया एकदम क्या हो जाता है ये सब अनेक अनर्थ व्राहत अनर्थ का अनर्थ की गिनती क्या करेंगे कुछ नहीं सब सत्य है सब ठीक है थोड़े शब्द से टेढ़ा कोई सुन दिया तो कष्ट है कितने गृहस्थ लोग बड़े रोते हैं कोई को कह दिया बच्चा ने कुछ कह दिया बेटा की पत्नी ने कुछ कह दिया पत्नी ने कुछ अपने पति ने कुछ कह दिया बड़े दुखी है सब कुछ है अभाव कुछ नहीं किंतु थोड़े शब्द कुछ कह दिया तो उसके लिए बड़े दुखी रोते हैं बड़े होने के बाद फिर कोई कुछ कह दिया अब बड़ा कष्ट होता है तो वो दुख इसी प्रकार बहुत प्रकार दुख है तो ये तो अनर्थ व्राहत को प्राप्त करते प्रतिपद्यन्ते जो इच्छा करके बाह्य वस्तु की इच्छा करके बहुत धन संपत्ति इकट्ठी कर नाम कमाने पर आगे मोक्ष मिल जाएगा मरने के बाद फिर कहाँ जाना ठिकाना नहीं है ये उसमें उनको आगे का विचार नहीं होता है पशु पक्षी के समान पशु पक्षी को पता नहीं चलता मरने के बाद क्या होगा अभी केवल कहाँ मिलता है खा लो पानी पी लो सो जाओ फिर यही करते रहते हैं रोज रोज इसी प्रकार मनुष्य करेगा तो यही बाल अभिवेका यही मृत्यु के पास को प्राप्त करते हैं उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए बहुत साधक सोते हैं सब लोग करते हम भी ऐसे करेंगे समझने के बाद भी मन में रखते थोड़े दिन के बाद जाएंगे भागवत पढ़कर भागवत कथा करेंगे कुछ लोग मन में रहता है जितने सुनेंगे तो भी मन में नहीं थोड़ा तो भागवत तो कथा करना पड़ेगा नहीं तो ज़्यादा रुपया नहीं मिलता है <laughs> ये भावना ये साधु बनने के बाद भी ये दृष्टि हो तो क्या होगा इसलिए ये अनुकरणीय नहीं है कोई भी कितने भी प्रसिद्ध हो जाए कितने धन इकट्ठे कर ले कुछ भी कर ले वो यदि आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त नहीं करे उसके लिए प्रयास नहीं करते श्रुति उनको कहती बाल अविवेक है अल्प प्रज्ञा अल्प बुद्धि वाले वही जन्म मरण चक्र को प्राप्त करते हैं इसी प्रकार अनादि काल से कितने करोड़ों करोड़ बार जन्म मरण हो गया इसीलिए यत एवं अथ तस्मा धीरा इसे धीर जो होते हो क्या करते अभी विवेक धीरा दीर्घ है विवेक न विवेक लोग धीर होते हैं अविवेल को चंचल है वो चाहता है तो उठाता है वो भी ले लेता है बहुत लोग इकट्ठी करते हैं तो ये भी उठाया उठाता है क्या चीज कोई पूछा क्या है अब पता नहीं सब लोग को तो रहते हम भी रख लेते हैं सब लोग इकट्ठी करके रखते हैं बैग में कोई देखा क्या है सो उठाते वो भी उठा के रखना इतने कर दिया वो क्या चीज पता नहीं सब लोग इकट्ठी करते हमें रख दिया बाद में फिर फेंक देता है किंतु इकट्ठी करते समय ऐसे होता है ये अविवेकी है अधीर ही होता है और दूर दृष्टि से विचार करना आगे पीछे विचार करके चलना है विवेक ना प्रत्ययात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम अमृतत्व ध्रुवम विदित्वा वो जानते हैं ये ध्रुव नित्य तो यही है उसको छोड़कर बाकी सो अनित्य मिथ्या है प्रत्ययात्म स्वरूप अवस्थान लक्षण प्रत्ययात्म स्वरूपेण अवस्थान प्रत्ययात्म स्वरूप अवस्थान क्या है अपने स्वरूप का है निश्चय बार-बार रहे अपने शुद्ध चिद रूप ब्रह्म में हूँ ये निश्चय यही होने पर ज्ञान हो जाने पर तद्रूप में रहना यही नित्य ही सार है बाकी सो सार मिथ्या है इसको समझ करके यही अमृतत्व है ध्रुव नित्य है यही मोक्ष है और जो स्वर्ग को प्राप्त करते अमृतत्व होते वो वास्तव नहीं यहाँ के अपेक्षा स्वर्ग में अधिक समय रहते हैं यहाँ के सुख की अपेक्षा स्वर्ग सुख अधिक है यहाँ बूढ़ा हो जाते हैं स्वर्ग में बूढ़े नहीं होते हैं स्वर्ग में देवता लोगों का शरीर हमेशा तीस साल उम्र का है प्रारंभ से अंत तक जब तक रहे तीस साल उम्र जैसे इसलिए भोग करने के लिए जाते हैं पूरा भोग करते रहेंगे यहाँ तो थोड़ी देर के बाद चलना फिरना खाना पीना सो में परेशान सुना ही नहीं पड़ेगा दिखना नहीं होगा खाने के लिए दांत दर्द दर्द है तो खा नहीं सकते हैं कभी कहीं तो कम उम्र भी दांत दर्द होता है तो उसको समझ में आता है जिसको कष्ट जिसने भोगा है वो पता है दांत दर्द कान दर्द में कितने कष्ट होता है ये संसार में ऐसे सब दुख स्वर्ग आदि अमृतत्व थोड़ा आपेक्षिक है वास्तव नहीं है वास्तव तो अमृतत्व ध्रुव है आत्म तत्व ज्ञान है इसको समझ करके दे ध्रुवम विदित्वा देवादि अमृतत्व में अध्रुवम देव देवादि जो अमृतत्व है अजर अमर कहते हैं अध्रुव नित्य नहीं है क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति फिर आते हैं थोड़े समय के लिए सुख भोगते फिर पुण्य खत्म हो गया तो अब भागो पुण्य खत्म होने के बाद थोड़ी और देर रहेंगे थोड़ी देर के बाद जाएंगे एक दिन के बाद वो नहीं चलेगा <laughs> बर्फ जैसे पिघल जाता है इसे सर्व समाप्त हो जाएगा किसको हटाना नहीं पड़ेगा कहीं हम रहेंगे तो कहीं रहो कोई बात नहीं दो चार दिन रहो तो पिघल जाएगा सर <laughs> रह नहीं सकता है देखते देखते सर समाप्त हो गया अनित्य है अस्थिर है इदम तो प्रत्यगात्म स्वरूप अवस्थान लक्षणम ये जो प्रत्यात्म स्वरूप अवस्थान स्वरूप है अमृतत्व ये नित्य है ध्रुव स्थिर है इतने स्थिर है न कर्मणा वर्धते नो कनियान बहुत पुण्य कर्म से वृद्धि बढ़ जाएगा अथवा पाप कर्म से घट जाएगा ऐसा नहीं अपने स्वरूप तो नित्य एक स्वरूप अच्युत है न च्युति नहीं होती स्वरूप से एक रूप हमेशा ही है भ्रांति से अन्य जगत दिखता है किंतु अपने स्वरूप जैसे कैसे उसी स्वरूप में रहना ही वही नित्य है उससे अतिरिक्त जो परिवर्तन होता है वो सब अनित्य है नित्य वस्तु तो ही जो हमेशा एक रूप से है तीन काल में एक रूप रहे बाकी जो परिवर्तन होता है उसके पीछे नहीं भागना पूरा जागृत प्रपंच स्वप्न प्रपंच सुसुप्ति तीनों का दृष्टा चीद रूप आप है जागृत प्रपंच नहीं रहता है सपने में स्वप्न प्रपंच भी जागृत में नहीं रहता है तो दोनों में से किसको सत्य कहेंगे किसको मिथ्या कहेंगे स्वप्न को मिथ्या कहते जागृत को सत्य कहते क्यों स्वप्न को सत्य कहकर जागृत को मिथ्या कहो स्वप्न पदार्थ जागृत में नहीं आने से उसको हम मिथ्या कहते हैं जागृत पदार्थ स्वप्न में नहीं रहता तो उसको मिथ्या कहो जागृत प्रपंच को स्वप्न को सत्य कहो ऐसे दोनों विचार कर देखेंगे तो दोनों ही मिथ्या है सत्य ही नहीं हाँ उसको जानने वाला ही जो दो, दोनों अवस्था में एक रूप रहता है वही सत्य जिसका थोड़ी सा ही परिवर्तन कहीं कुछ होता है वो व्यभिचारी है अन्वय जिसका सर्वत्र रहते एक रूप रहे वही नित्य है यही अन्य व्यतिरेक युक्ति के द्वारा समझे ये आत्मतत्व कर्म से पुण्य कर्म से ना वर्धते पाप कर्म से घटता नहीं वही नित्य है बाकी कोई नित्य नहीं तदेवं भूतम कूटस्थम अविचाल्यम अमृतत्वम विदित्वा अध्रुवेषु सर्व पदार्थेषु निर्धार्य ब्राह्मणा ह्य संसार अनर्थ प्राय न प्रार्थयन्ते किंचिदपि प्रत्यगात्म दर्शन प्रतिकूलत्वात् तदेवं भूतम कूटस्थम जो आत्म तत्व है आत्म स्वरूप कूटस्थम कूटपत निर्विकार निष्ठति निर्विकार आत्म तत्व सम एक रूपे अविचाल्यम किसी से विचलित नहीं होता है परिवर्तन नहीं होता है एक रूप नित्य रहता है अमृतत्वम उसको समझ करके विदित्वा विवेक के लोग उसको समझते हैं वास्तव सत असद विवेचन तो करते नित्यानित्य वस्तु विवेक करते हैं ब्रह्म सत्य तद्भिन्न अयम अयमेव नित्या नित्य वस्तु विवेक एक आत्म तत्व ब्रह्म नित्य ये तो शब्द से रट करके मालूम होते हमेशा वही ध्यान रहे एक अद्वितीय तत्व ब्रह्म ही सत्य बाकी सब मिथ्या है सत सद विवेचन बार-बार करते करते दृढ़ होता है अविचाल अमृतत्वम विदित्वा जब उसको समझ लिया एक अधिष्ठान आत्म तत्व ही सत्य बाकी मिथ्या है तो अध्रुवेषु सर्व पदार्थेषु अनित्यसु सारे पदार्थ अनित्य अध्रुव है जो ध्रुव नहीं है स्थिर नहीं रहने वाले वो अनित्य है सर्व पदार्थ दृश्य पदार्थ जितने जागृत सपना में सुषुप्ति अज्ञान भी सब कुछ मिथ्या है अनित्य है दृश्य ज्ञेय पदार्थ उसको उनमें से आत्म तत्व को निर्धारित निश्चय करके समझ करके जो कार्य नहीं विचलित नहीं अविचाल्य है जो कार्य नहीं है अध्रुवेशु सर्व पदार्थेषु जो कुटस्थ अमृत तो उसको निश्चय करके ब्राह्मणा यह न प्रार्थयन्ते किंचिदपि कुछ नहीं इच्छा करती यह कार्य संसारे अनर्थ प्राय अनर्थ बाहुल्य अनर्थ बहुत थोड़े बीच बीच में सुख मिलता है अनर्थ बहुत है न प्रार्थयते किसी की इच्छा नहीं करते प्रार्थना कर इच्छा करना मांगना भगवान से प्रार्थना करते तो कुछ इच्छा करते मांगते हैं यहाँ संसारिक सांसारिक वस्तु इच्छा करने वाले संसार को प्राप्त करता है परमात्मा से सांसारिक वस्तु नहीं चाहता है तो ज्ञान चाहता है दर्शन चाहता है यहाँ संसार में अनर्थ बहुल्य संसार में विवेकी लोग नित्यानित्य वस्तु विवेक करने पर एक नित्य तत्व आत्म तत्व समझ करके अनित्य वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं जब तक स्थिति नहीं है अनित्य वस्तु की इच्छा होती है तब तो समझ विवेक नहीं हुआ नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं हुआ शब्द से तो बड़ा सरल है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या किंतु जगन मिथ्या कहते समय भी जगत की इच्छा है तो मिथ्या कैसे मिथ्या निश्चय होने पर फेंक देना चाहिए मिथ्या निश्चय होने पर भी उसकी इच्छा होती है तो मिथ्या तो निश्चय नहीं हुआ शब्द से कहने से नहीं होता है ये जब निश्चय करते निर्धार्य निर्धारण निश्चय सब मिथ्या है एक आत्म तत्व सत्य है जिसका सब सर्वत्र यत्स्या सर्वत्र सर्वदा सर्वत्र हो सर्वदा हो एक रूप वही नित्य है चतुश्लोकी भागवत में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को उपदेश किया एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुना आत्मना अन्य अभ्याम यस्य सर्वत्र सर्वदा जो सर्वत्र और सर्वदा हो वो इसको जानना है इतने आत्मन तत्व जिज्ञासु को इतने जानना जिज्ञासा करके अन्वेषण कर जाना जो सर्वत्र हो और सर्वदा हो कभी अभाव हो जाता है कहीं अभाव हो गया तो मिथ्या है एक नित्य वस्तु है उसको निश्चय करके अनित्य वस्तु की इच्छा नहीं करते हैं इच्छा क्यों नहीं करते इसलिए प्रत्येक दर्शन प्रतिकूलत्वाद अपि न प्रातेंदे कुछ भी नहीं जिसको प्रत्यात्म आत्म साक्षात्कार ब्रह्म साक्षात्कार करने की इच्छा है पूरा बाह्य अन्य सब इच्छा को छोड़ना पड़ेगा एक एक इच्छा छोड़ते छोड़ते छोड़ते पूरा कुछ नहीं चाहिए रोज रोज विचार करे क्या चाहिए विशेष रूप चाहिए या परमात्मा दर्शन चाहिए विषय की इच्छा है तो परमात्मा दर्शन नहीं होगा परमात्मा दर्शन करने की चीज इच्छा होती है तो अन्य इच्छा को छोड़ना पड़ेगा ये विचार करके कहाँ जाना अपने हाथ पर है कहाँ जाना है ठीक है वासना के कारण इच्छा हो जाती है इच्छा होने पर भी मन में विषय चिंतन हो जाता है तो अपने विवेक करके चलना चाहिए किस रास्ता में जाएंगे रास्ता तो दोनों तरफ है रास्ता की कोई गलती नहीं है मार्ग तो है गंगा जाने के लिए मार्ग है जंगल जाने के मार्ग स्वर्ग जाने के लिए मार्ग नरक जाने के लिए मार्ग दोनों जो जिधर जाना चाहेगा कोई स्टेशन से कहीं उत्तर में जाए दक्षिण जाए पूर्व में जाए पश्चिम में जाओ जहाँ जाना ऐसा जाओ इसलिए अपनी इच्छा करके देख करके जाना पड़ता है लोग बहुत जहाँ जाते हैं वहीं जाना है बड़े-बड़े लोग जहाँ जाते हैं उनके पीछे जाना है कभी-कभी से भ्रांति होती बहुत लोग बड़े लोग जाते वो पीछे गया जहां जाना था वो नहीं पहुंचे कहीं दूसरे स्थान पर पहुंच गया ऐसा होता है कहीं जाते समय बड़े-बड़े जो हवाई अड्डा है वहां जाते से तो कहीं-कहीं पता नहीं चलता कहां जाना बहुत बड़े बहुत लोग जाते उनके पीछे चला जाकर कहीं दूसरे स्थान पहुंच गया जहां जाना था वहां नहीं जाकर दूसरे स्थान पहुंच गया फिर किसी समय पर यदि समय पर आ गया तो आ गया नहीं तो गया सब लोग जाते हैं इसके पीछे नहीं अपने देखना है कहाँ जाना है इसलिए रास्ता तो बहुत है रास्ता की कोई गलती नहीं है अपने विचार करके चलना है कहाँ जाना है नित्य वस्तु को समझ करके अनित्य वस्तु की इच्छा है तो नित्य की प्राप्ति नहीं होगी नित्य की प्राप्ति करना है तो अनित्य इच्छा को छोड़ना पड़ेगा ये जो विवेकी लोग किंचित अपि न प्रार्थयन्ति कुछ भी नहीं चाहते हैं क्योंकि कुछ भी चाहता है तो प्रत्येगात्म दर्शन का प्रतिकूल विरोधी है इच्छा ही अन्य कोई बाह्य कोई शत्रु नहीं है अपनी जो इच्छा है वही प्रतिबंधिका है तो क्या इच्छा होती इतना इच्छा जितने इच्छा है सब इच्छा को तीन ऐसा में उसको अंतर्भूत कर देते हैं पुत्र वित्त लोकेशनाभ्यो वित्तिष्ठन्ति एव इत्यर्थ पुत्रेशना वित्तेषणा लोकेशना पुत्र की इच्छा है साधु लोग कहते हमारे तो पुत्र की इच्छा नहीं है किंतु शिष्य चेला की इच्छा है हमारे शिष्य बन जाए हमारे भी चेले बन जाए हमारे भक्त बन जाए बड़ा अच्छा लगता है भक्त बनाने के लिए गुरु बनने के लिए थोड़े कुछ क्या साधन क्या नहीं क्या देखते इसे हम भी ऐसे बन जाए ये जो माया के अज्ञान के कारण इसी प्रपंच में फिर इच्छा हो जाती है कोई चमत्कार दिखाता है चमत्कार किसके पास है था नहीं तो झूठे ही चमत्कार है कह करके भी लोग ठगते हैं चमत्कार यदि है तो भी ठीक है होने पर कोई लाभ नहीं तो अलग बात है किंतु है भी कोई साधन करके प्राप्त करते बहुत लोग नहीं होकर के झूठा ठगते हैं कोई कोई चाहते जाकर के जादूगर से जादू सीखते हमको थोड़ा सिखा दो हम लोग को दिखाएंगे ये तो गलत रास्ता में चल जाना होता है इसलिए पुत्रेशना एक ऐसा इच्छा है पुत्र के साथ पुत्र हो अपने भक्त हो शिष्य हो ये सब इच्छा पुत्रेषणा में अब वित्तेषणा धन धन मकान आदि धन संपत्ति पद आदि सब धन लोकेशना एक तो लोक स्वर्ग आदि लोक प्राप्ति और लोक सम हमको अच्छा कहे सब लोग हमें अच्छा कहे ये जो ऐषणा है नाम ख्याति की इच्छा बड़े है कोई कोई ऐसे महात्मा हो जाते हैं धन की इच्छा नहीं अन्य कोई इच्छा नहीं किंतु नाम की इच्छा है सही नाम रूप मिथ्या है समझते सबको उपदेश तो करते हैं किंतु अंदर नाम की इच्छा इतने है हमारा नाम हमारे फटो की पूजा हो बड़े-बड़े मकान में नाम लिखो बड़े-बड़े पत्थर से वो नाम को कौन पूछता है कितने नाम है सब सब वही अपने नाम पर कहीं-कहीं कुछ <laughs> ऐसे दिखा के स्थान पर जाकर बड़े मकान में लिखा अपना नाम है सब बता देखो हमारे नाम पर कितने बड़े मकान है <laughs> अब दूसरा क्यों बनाएंगे पहले से अपने नाम पर मकान है जो आपका नाम है ऐसे नाम किसी मकान में बड़े मकान में लिखा होगा मैं ना नहीं तो खुश हो जाओ <laughs> हमारे नाम पर है और अलग क्या लिखना बहुत बड़े आश्रम उत्तरकाश में है दिल्ली में देखा कहीं नाम है अपने नाम पर बड़े मकान है हम देखो हमारे मकान है <laughs> खुश और बाकी 10 20 मकान बना के नाम लिखो बाद में कौन पता चल रहा है किसका नाम है आप कौन है पता नहीं नाम पढ़ेंगे नाम पढ़ने से क्या आपको मिलेगा <laughs> कुछ मिलने वाला नहीं कोई ब्याज मिलेगा ऐसा नहीं आपके नाम पर मकान है सब लोग पढ़ेंगे हमका नाम और कौन था किसको पता नहीं अभी अभी कहीं पंचायत में नाम देखते हो पता नहीं किसका नाम है नाम है उनका निर्वाण <laughs> कौन है पता नहीं ये नाम से किसको मिलता है क्या मिलता है जो चलेगा उनको कुछ प्राप्त होता है क्या नाम उसमें आने से सब लोग उनका नाम लेते हैं अब पता नहीं चलता वो कौन है ये सब व्यर्थ है लोकेशन इनसे तिष्ठन्ति उसको छोड़ करके यही विवेकी का काम है सब इच्छा का त्याग करना और सन्यास तो इसीलिए होता है सन्यास में तो संकल्प करके पूरा इच्छा का त्याग करते हैं यह लोक में लोक में तीनों लोक कुछ इच्छा नहीं सब को छोड़ देते हैं सारे इच्छा का त्याग करना ही सन्यास है सन्यास का ये अर्थ है ऐसा संन्यास ये कहा गया अध्रुवेश यह न प्रार्थयन्ते यद विज्ञान न किंचित अन्यत प्रार्थयन्ते ब्राह्मण कथम तदिगम अधिगम अध्रुवेषु ध्रुवम विदित्वा ध्रुव आत्म तत्व को जान करने करके जिसके ज्ञान से और ब्राह्मण विवेक लोग कुछ नहीं चाहते उसका ज्ञान कैसे होगा कथम तद अधिगम वस्तुतः वेदांत श्रवण करने पर थोड़ा थोड़ा समझ में आता है जगत मिथ्यात्व बुद्धि उसका थोड़ा श्रवण से ज्ञान होता है तब इच्छा का त्याग होता है नहीं तो इच्छा छोड़ना बड़ा कठिन है जो लोग वेदांत श्रवण के लिए दूर रहते द्वेष करते हैं खाली इच्छा त्याग कर देना सरल नहीं होता है मिथ्या तो बुद्धि बार-बार करने पर इच्छा का त्याग होता है थोड़े ज्ञान होने पर फिर सब इच्छा का त्याग करेंगे तब साक्षात्कार होता है कैसे उसका ज्ञान हुआ उच्यते येन रूपम रसंगंधं शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एतनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वै तत् येन रूपम रसम गंधं शब्दान स्पर्शांश मैथुनात एतनैव विजानाति जिस आत्म तत्व से जानता है रूप रस गंध स्पर्श शब्द मिथुन जन्य सुख दुख आदि को अनुभव करता है युगल है मैथुनान सुख दुख निंदा तुति रूप रस गंध स्पर्श जिससे जानता है चेतन आत्म तत्व तो दीर्घ रूप चेतन से लोग जानता है एतने व बिजानाति यही आत्म तत्व से जानता है उसको जानता है सब कुछ वो जानता है जिस कीमत्र परिशिष्टते और क्या वस्तु अज्ञेय वस्तु क्या रहा सब को आत्म तत्व से जानता है सारे वस्तु ज्ञेय है उससे अतिरिक्त अन्य कोई आ, कुछ अविदित वस्तु कुछ नहीं रहा अभिज्ञ कुछ नहीं रहा सब जानता है किमत्र ज्ञेयम किमत्र अविदित क्या रहा अज्ञात क्या रहा सब जान लेता है आत्म तत्व से सब को प्रकाश करने वाला आत्म तत्व सब का ज्ञान होता है इसी से ही जानता है एतद् भी तत् नचिकेता को यमराज जी कहते हैं तुमने तो जो पूछा था तद एतद वे यही है आए आत्म तत्व जिससे सारे रूप रस गंध स्पर्श का ज्ञान होता है सारे पदार्थ का ज्ञान जिससे होता है और क्या रहता है मतलब कुछ भी और अभिज्ञेय नहीं रहता है सब उसका ज्ञेय है दृग रूप चेतन है उसका विषय सब कुछ दृग चिद भाष्यत्व चित्त के द्वारा प्रकाशितम सारे पदार्थ ज्ञेय होता है एक दृग रूप चेतन का अन्य कुछ अज्ञान अविज्ञान नहीं रहता है वही आत्म तत्व है तुमने जो पूछा था एक ही आत्म तत्व है जो प्रेत विचिकित्सा मरने के बाद संशय अस्तित्व के नास्तिति है नहीं कह करके उसके लिए फिर प्रश्न क्या था अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात धर्म अधर्म त्रिकालातीत वस्तु कार्य कारण से विलक्षण जो आत्म तत्व यही है जिससे सारे रूप रस गंध स्पर्श आदि सब को जानता है सबका विज्ञाता सबका प्रकाशक जिसको भगवान ने गीता में कहा क्षेत्रज्ञ एतद्यो वेत्ति प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद ज्ञेय पदार्थ में सर, सारे पदार्थ भूत भौतिक सब आ गया महाभूता ने अहंकार बुद्धि में वच कह करके सारे भूत भौतिक प्रपंच अविद्या आदि सब कुछ क्षेत्रज्ञ में आ गया इसको जानने वाला एक दृग रूप चेतन क्षेत्रज्ञ भगवान कहते क्षेत्रज्ञम चापे माम विद्य एक ही तत्व क्षेत्रज्ञ एक दृग रूप चेतन उसका सब ज्ञेय पदार्थ है जितने ज्ञेय सब मिथ्या है अनात्मा है दृश्य पदार्थ वही आत्म तत्व ही तुमने जो पूछा था टीका में कथम तदधिगमिति किम वैदिकत्वा धर्मवत परोक्षत्वेन किम वा घटाधिपत सिद्धत्वात् अपरोक्षत्वेन अपि इति आकांक्षायां आत्मत्वाद ब्रह्मण अपरोचत्व ने अवगम यहाँ कहा कथम तद अधिगम कथम कहा था केन प्रकार न किस प्रकार उसका ज्ञान होता है तो कथम तद अधिगम इति जो दिया है इसका अभिप्राय क्या है धर्म वेद प्रतिपाद्य है वेद भी तो कर्मजन धर्म तो वेद जागादि धर्म है वैदिक है वैदिक धर्म का ज्ञान यजेत स्वर्ग काम स्वर्ग साधन याग ये सब जो धर्म का ज्ञान होता है शब्द से होता है उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है परोक्ष होता है धर्म जैसे वैदिक परोक्ष ज्ञान तो होता है इसे ब्रह्म भी वैदिक है वेद प्रतिपाद्य तो वैदिकत्वात परोक्षत्वेन अधिगम धर्मवत ब्रह्म परोक्षत्वेन अवगंतव्यम वैदिकत्वात धर्मवत अनुमान सूचित है वैदिक होने के कारण धर्म के समान क्या परोक्षत्वेन परोक्ष रूप से ब्रह्म का ज्ञान होगा ये प्रथम कल्प किंबा सिद्ध वस्तु घटादि प्रत्यक्ष दिखेगा पर्वत दिखेगा प्रत्यक्ष जो सिद्ध है दिखेगा धर्म तो उत्पन्न होगा याग करेंगे तो धर्म उत्पन्न होगा अथवा याग करेंगे याग कोई धर्म कहते मीमांसा लोग याग जन अपूर्व धर्म होगा भीत कर्म जन धर्म न्याय मत के अनुसार ये साध्य सिद्ध नहीं है ये आगे भी करेंगे तो सिद्ध होगा सिद्ध वस्तु ये पर्वत आदि सिद्ध है प्रत्यक्ष दिखता है इसी प्रकार ब्रह्म को कर्म कर्ण से ब्रह्म की उत्पत्ति होती है या उपासना से उत्पत्ति होती है वो सिद्ध है वो किसी कर्म से उपासना से उसकी उत्पत्ति नहीं सिद्ध है है ही सिद्ध वस्तु साध्य है अभी नहीं है तो प्रत्यक्ष नहीं देखेगा जैसे धर्म किंतु ब्रह्म तो सिद्ध है जैसे पर्वत सिद्ध है चक्षु संयोग हुआ तो दिखेगा इसी प्रकार ब्रह्म सिद्ध है तो परमाणु ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा जो सिद्ध वस्तु उसका अपरोक्ष ज्ञान होगा जैसे घट घट पहले से है तो उसका अपरिचय होता है दो हुआ वैदिक होने से धर्म के जैसे जैसे परोक्ष ज्ञान होगा अर्थात सिद्ध होने के कारण घट जैसे अपरिचय होगा ये कथम तद अधिगम का अभिप्राय वैदिकता धर्मवत परोक्षत्व किंबा घटादिवत सिद्धत्वाद अपरिचेतन सिद्ध ब्रह्म है जैसे घटादि सिद्ध है घट तो दिखता है सिद्ध वस्तु होने से ब्रह्म भी अपरिचेतन जानना है अपरिचेतन आप ही अपरिचित पहले से परोक्ष हो जाए अपरिचय भी हो जाएगा इति आकांक्षा में यही अभिप्राय कथम तद के केन प्रकार परोक्षत्वेन अथवा अपरिचत्वेन ऐसा संकान से कहते आत्मत्वाद ब्रह्मण अप्रोक्षत्वेन अवगम अवगम घट अपना स्वरूप है क्या इसलिए वहां परोक्ष होता अपरोक्ष नहीं होता है ब्रह्म तो आत्म स्वरूप है अपना स्वरूप है आत्मत्वाद ब्रह्मण अपरोक्षत्वेन अवगम अपरोक्षत्वेन मैं हूं ऐसा ज्ञान आपको होता है कभी कभी-कभी हां हमेशा होता मैं हूं कोई कहेगा तो होगा नहीं तो होगा नहीं कोई कहेगा तुम हो तभी ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा <laughs> कोई कहने की आवश्यकता नहीं वो ज्ञान परोक्ष होता है अपरोक्ष होता है परोक्ष देखना पड़ता है आंख आंख बंद है तो परोक्ष होगा अपरोक्ष होगा आंख बंद है तो मैं हूं करके ज्ञान ये ज्ञान परोक्ष है अपरोक्ष है किस इंद्र से ज्ञान होता है उसके लिए कोई इंद्र की आवश्यकता नहीं मैं हूं निश्चय होने पर अन्य वस्तु का ज्ञान के लिए प्रमाण की आवश्यकता है मैं हूं जानने के लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं मैं हूं ये स्वयं अपरिचय है आत्मत्वात् ब्रह्म भी आत्म स्वरूप होने के कारण जैसे आत्मा न अपरोक्षत्वम ब्रह्म का भी अपरिचय होगा आत्मत्वाद अपरोक्षम ब्राह्मण आत्मत्वाद अपरिचित्व ने अवगम ब्रह्म का ज्ञान अपरिचित्व नहीं होता है जब ब्रह्म साक्षात्कार हुआ होगा तो अपरिचित्व ने अहम अस्मि इस प्रकार ज्ञान वह वह तद एतद ये नहीं तद एतद यह वह ऐसा जब होता है वो सविशेष कुछ सोपाधिक का ज्ञान होगा शुद्ध चिन्ह चिन्मात्रात आत्मस्वरूपे अपरिचत्व ने अवगम सम्यक अवगम वही अपरिचित ज्ञान हुआ यथार्थ ज्ञान हुई है अपरिचित ज्ञान नहीं हो करके परोक्ष ज्ञान हुआ अहम अस्मि करके भी अपरिचित अहम अस्मि नहीं कि सामने कोई देख ले अपरि घट जैसे दिखता है मेरे से भिन्न ऐसे परमात्मा को मेरे से भिन्न ऐसे जान लिया वो ज्ञान नहीं मेरे से भिन्न आत्मा से भिन्न तो अनात्मा हो जाएगा कोई सपने में देख लेते कहते ब्रह्म साक्षात्कार हो गया ऐसा जागृत में कोई सामने दिखी जाए वो साक्षात्कार नहीं है आत्मत्वेन अपरिचेतन अहमस्मि ज्ञान है इति उच्यते येन रूपम रसम गंध येन केन केन किससे रूप रस गंध को जानता है विज्ञान स्वभावेन आत्मना विज्ञान ही स्वभाव ज्ञान स्वरूप आत्मा से ही जानता है रूप रस गंध स्पर्श शब्द का मिथुन निमित्तान मिथुनम निमित्तम ये ते मिथुन निमित्ता सुख प्रत्यान तान सुख प्रत्यान सुख आदि ज्ञान होता है बीजानाति विस्पष्टम जानाते सर्वलोक सब लोग जिससे जानता है नैवं प्रसिद्धम नैव प्रसिद्धम लोकस्य नैव प्रसिद्ध नैव प्रसिद्धि ननु नैवम प्रसिद्धिर लोकस्य आत्मना देहादि विलक्षण नाम विजानामिति ये तो लोक क्या प्रसिद्ध नहीं आत्मा देहादि विलक्षण को आत्मा से मैं जानता हूँ सारे पदार्थों को देखते समय देहादि से विलक्षण आत्मा से मैं पेड़ को देखता हूँ पुष्प देखता हूँ ये तरह तो से प्रसिद्ध नहीं देहादि विलक्षणन आत्मना अहम विजानामि मैं जानता हूँ इति लोक से प्रसिद्ध नास्ति इस लोक में कोई नहीं जानता कि देहादि विलक्षण कोई आत्मा उस से मैं देख रहा हूँ सब कहते मैं ही जानता हूं देहादि संघात को दिखाते मैंने क्या ऐसा अधिकार हमने देहादि से विलक्षण कहा देहादि संघातो हम बीजानामिति तो लोक अवगच्छति सब कहता मैंने क्या देहादि संघात को देखा हम में मैं ही देख रहा हूँ मैं कहते समय देहादि संगत इधर अन्यत्र नहीं है यहां मैं ही देख रहा हूँ देहादि हो हम बीजानामिति सब लोग जानते तो ये न में रसम जानते लोग किससे जानता है देहादि विलक्षण से तो कोई नहीं और तो देह ही है टीका में मूढ़ानाम व्यतिरितेन आत्मना देहादर वेद्यत्वम यद्यपि न प्रसिद्धम नाम जो अविवेकी है देहादि से व्यतिरितेन आत्मना देहादेर व्यतिरिक्तेन आत्मना वेद्यतम यद्यपि न प्रसिद्धम देहादे पंचमते देहादि से भिन्न आत्मा से रूप रस गंध वेद्य होता है इस प्रकार मूढ़ानाम यद्यपि न प्रसिद्धम अविवेकी लोगों को मालूम नहीं है देहादि से भिन्न कोई है जिसके द्वारा हम रूप रस को देखते हैं देहादि व्यतिरिक्तेन आत्मना वेद्यतम रूपादिनाम देहादि से भिन्न आत्मा से वेद्य होता है ऐसे मूढ़ों को तो प्रसिद्ध नहीं है ये लोक प्रसिद्ध नहीं सामान्य मूढ़ पामरों को प्रसिद्ध नहीं तथा भी विचार का नाम प्रसिद्ध है व्यक्ति रीते नहीं प्रसिद्ध प्रसिद्धम जो विचार करते हैं किसके द्वारा हम जानते हैं तो विचार करते हैं ये देहादि से नहीं चक्षु से नहीं ये सब अनात्मा से नहीं जड़ से ज्ञान नहीं होता है अनात्मा से ज्ञान होगा तो एक घट दूसरे घट को देखेगा या पट को देखेगा हैं पट को दोनों को दोनों को क्या बोलते हैं हाँ, इसे नहीं ला बोलो एक क्या नहीं एक या तो दोनों को देखेगा दोनों का क्या करता कौन मालूम है करता है घट बाहर के घट है दूसरे घट को देखेगा पट को देखेगा हैं दोनों को देखेगा गधे एक घट बाहर है वो पट को देखेगा या दूसरे घट को देखेगा किंतु वो तो नहीं देखेगा दूसरे पट देख सकता नहीं कोई घटपट दूसरे को नहीं देखता है अनात्मा नहीं देखता है यदि पट अनात्मा देखे तो घट भी पट को देखे पर्वत देख सकता है तो घट को जड़ कोई किसको नहीं देखता है इसलिए देहादि विलक्षण से जानता है टीका में दिया तथापि भी विचार का नाम व्यतिरित विचार करने वाले कहते देह नहीं दे सकता है जड़ नहीं देखता है इसलिए देहादि से अतिरिक्त चेतन से ही ज्ञान होता है ततो यस शब्देन प्रसिद्धवत परामर्श न विरुद्धते येन जिससे देखता है यत् शब्द प्रसिद्ध जिससे कहा प्रसिद्ध विचारकों का प्रसिद्ध है अज्ञानी तो विचार नहीं कर पाता नहीं जानता है कहता है देह आदि से देखता है विवेकी विचार करता है ये देह जड़ है वो कैसे देखेगा देह जड़ है कोई मर जाने पर देह दिखता है मर जाएगा कोई तो उसका देह दिखेगा कोई मना कर दे दिखता नहीं कोई मरेगा तो उसका लाश देह दिखता नहीं नहीं राम नाम सत्य कर लेते हर हर महादेव शंभु महात्मा लेते थे देखते हैं ना नहीं शरीर वो शरीर क्या करता है देखता है या सुनता है उसको सुनाओ तो कुछ सुनेगा कुछ नहीं करता है रास्ता देखता है बताता है इधर चलो इधर समस्या में कुछ नहीं इसी प्रकार जड़ घटपट आदि नहीं दिखता है देह जड़ है उससे विलक्षण से दिखता है देहादि दृश्य है देखा जाते हैं देखने वाला उससे भिन्न है तो विचार करणम व्यतिरित नैवेद्यतम प्रसिद्ध इसलिए ये न यत शब्द से उसका परामर्श किया श्रुति में प्रसिद्ध जैसे कोई विरोध नहीं थी पर रहते न तो एवं भाष्य में न तो एवं ऐसा नहीं है लोक देह को जानता है मैं जानता ऐसा नहीं देहादि संघात शब्दादि स्वरूपत विशेषात विज्ञत्वा विशेषाच न युक्तम विज्ञातृत्वम अब यही विचार करेंगे हैं विज्ञत्वा विशेषाच विज्ञत्वा दीर्घ यहाँ विचार करें ज्ञाता कौन होता है जानने वाला कौन है विज्ञान विज्ञाता कौन है देहादि संघात ज्ञाता है और उससे भिन्न कोई है ज्ञाता है देहादि संघात से आप ही विज्ञान तो अविशेषाच देहादि संघात रूप रस गंध स्पर्श विज्ञ है या नहीं है आ देहादि संघात विज्ञ है या नहीं ज्ञे है या नहीं देह ज्ञ है इंद्र ज्ञ है इंद्र किस प्रमाण से दिखेगी प्रत्यक्ष दिखता है इंद्रिय इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं दिखते अनुमान से निश्चय होगा जाना जाता है ज्ञान हुआ रूप ज्ञान हुआ तो चक्षु इंद्र से इंद्र है और कान में कभी सुना नहीं पड़ता तो कहते श्रवण इंद्र में कान में खराब आ गया ये सब इंद्र का ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं होता किंतु कार्य से ज्ञान से अनुमान करते हैं तो इंद्रिय मन बुद्धि मन आदि का प्रत्यक्ष होता है तो ये सब का ज्ञान होता है देहादि सब ज्ञेय है ज्ञेय होने के कारण विज्ञान तो देह देहादि संघाते विज्ञेय है इसको विज्ञाता नहीं होगा ज्ञाता तो ज्ञेय से भिन्न होता है जिस घट को आप देखते हो घट आपसे भिन्न है आपसे घट भिन्न है जिसको आप देखते घट को घट से आप भिन्न है क्या दृश्य दृष्टा से भिन्न होता है अपना दृश्य अपने से भिन्न है जिसको हम जानते हैं हमसे भिन्न है देहादि को अपने देह को आप जानते हो दूसरे देह को जानते हो अपने देह को जानते हो तो अपना देह अपने आप से भिन्न है जिसको जानते हो हमसे भिन्न है देहादि भी ज्ञ है इसलिए अपने से भिन्न है तो जो है उसको भिन्न भिन्न करते जा फिर अपने क्या बचेगा यही विचार करना पड़ेगा जो ज्ञेय नहीं होता वो आपका स्वरूप है जो ज्ञेय हो आपका स्वरूप नहीं यहाँ विचार है क्या विज्ञाता कौन है देहादि संघात जानता है उससे अतिरिक्त कौन श्रुति में देखा ये न रूपम रसम गंधम रूप रस गंध जिससे जानता है वही आत्म तत्व ब्रह्म अभी देखना पड़ेगा किससे आप जानते हो यही विचार करो रूप रस गंधादि तो ग्रहण करते हो किससे जानते हो कोई क्या इंद्रिय से आंख से देखते हैं और भोजन करते जीवा से दांत से चबा कर खा लेते हैं ये जो जानने वाला वो स्वयं दृश्य है ज्ञेय है जिस दांत जीवा इंद्रिय को आप जानते हो वो ज्ञान नहीं अनात्मा है जड़ है वो ज्ञेय है वो दृष्टा नहीं है दृग नहीं है यही विचार का निर्णय करना है दृग रूप चेतन जड़ प्रपंच से विलक्षण वही जानना है ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर